ये हैं वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं